मेरे गाने ही मैसेज है कि मैं यही दुआ करूँगा सबसे अपने सुनने वालों से भी और अल्लाह से भी कि लोग मुझे इन्हीं गानों के ज़रिए से याद करें जो जो कुछ अच्छाइयाँ इन गानों ने उनको दी हैं या कुछ उनकी ज़िंदगी में कोई मदद की है मेरे गानों से बस वही बहुत बड़ा सबसे बड़ा रिवॉर्ड है मेरे वास्ते सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हैं सबसे मधुर वो गीत जिन्हें हम दर्द के सुर में गाते हैं हम दर्द के सुर में गाते हैं जब हद से गुजर जाती है खुशी आंसू भी छलकते आते हैं आंसू भी छलकते आते हैं हैं सबसे मधुर वो